वाले तो हो गए तीसरी बात अनिमन के कामों से मुझे आज की आज कर दी ये पहले दिनों में भी मैंने याद किया भजन सभाना दुर्भवार अनुसार बात प्रकार हमने दो बातें आपके सामने बहुत बना सकते जो कि मौके पर बंदा को याद दिलाई एक तो यह है कि कसरत के मुकाबले के बजाय आदमी कुछ न करता है अगर आपका मकान वसी कबूल फरमाए और इस बीमार के एवज अल्लाह ताला हमारी भी निजात ये दो बातें हो गई तीसरी बात अनिमन के बालों से मुझे आज की आज करनी ये पहले जैसों में मैंने नाम किया भजन सभाना दुर्भाव अनुसार बात पढ़ा तो मैंने बातें आपके सामने बहुत मुनासिब है जो कि मौके पर बंदा को याद दिलाई एक तो यह है कि कसरत के मुकाबले के बगैर आपकी कुछ नमोल सकता है अगर आपका मकान वसी नहीं है आप मुख्तलि मुसनफिन की किताबों से वाकिफ नहीं हैं आप मुख्तलि मुसनफ के कर्ज से लिखने के कर्ज से और उनकी तकलीफों के से वाजिब नहीं है ना आप बेहतरीन खलीफ बन सकते हैं और ना बेहतरीन आप उसको एक और मालिक बन सकते हैं मेरे दोस्तों तकलीफों की अलग अलग किस्में होती है आपने सलाह वाला वाला में पढ़ा होगा कि किताब जो होता है कि जब किसी जैसे में तकलीफ होती है उसकी कई किस्में हैं किताब होती नहीं है किताब तो नहीं है किताब तो ही जो है लिखा हुआ है एक है किसी सियासी जैसे में आप तकलीफ करें तो आपको कैसे तकलीफ होती है तो सियासी जैसा है आप किसी अदली में आपकी तकलीफ का रुख कैसा आप किसी निजी महफिल में है आपकी तकलीफ का रुख कैसा आप अगर किसी तालीम याफ्ता और एजुकेटेड लोगों में है तो आपको बोल रहे अंदाज क्या होना है और अगर आप किसी देहात में बात कर रहे हैं तो फिर आपकी तकलीफ का रुख कैसा ये है असल में मुखरर को ये जानना बहुत जरूरी है मुकर्रीर को चाहिए कि वो अपने सामने का ख्याल करके बात करें कहीं मुन्ना दादा का जो तो पूरी लोगों की अकल है लोगों की जो समझ है लोगों का जो फहम है उसको भी नजर रखकर आप अपने मेहमान का इस्तेमाल करें और हमसेरा भी ऐसी ही

हमारे साथ लड़के और इस्माइल साहब का है लॉन्डन आज का हजरत मौलाना सलीम रहमान सत्ता साहब वहाँ तशीफ लेके गए इंग्लैंड पंद्रह रोज इस्माइल ने फोन पर कहा कि इनका एक प्रोग्राम वहाँ अंग्रेजों में हुआ मौलाना सलीम रहमान सत्ता साहब अभी भी बेहतरीन जानते हैं उर्दू सर लखनऊ के अंदर जानती हैं उर्दू में कह रहे अंग्रेजी भी बेहतरीन बोलते तो जानबूझकर वहाँ के लोगों ने एक प्रोग्राम अंग्रेज लोगों में रखा ताकि इस्लाम का सही आरोप हो सके जो पूरे आलम में एक शोर मचाया गया है कि इस्लाम दहशत पसंदी दिखाता है मुसलमान कौन पूरी की पूरी दहशत बनाए एक प्रबल में चला गया है इस जमाने में बड़ी जरूरत है कि दुनिया के कौमों के सामने सही इस्लाम दिखाई दे तो इस्माइल ने मुझे फोन किया कि मौलाना की तकलीफ हुई और वहाँ के कौंसलर और बड़े आला होने के लोग भी उस तकलीफ में शामिल थे कौंसलर इतना मुतासर हुआ मौलाना की तकलीफ सुनने के बाद उसने कहा कि हमने पहली मरतबा इस्लाम की सही शक्ल को सुना है हम नहीं समझते थे कि इस्लाम में ऐसी तालीम लोग पढ़ते नहीं हैं और टीवी पर अखबार में मजल्लात में जो बदामी करते हैं वो उनके सामने आते हैं कोई अच्छी कुरान लिखकर कोई अच्छी तकलीम करके कोई वेबसाइट पर इस्लाम के बारे में बात समझाए तो उनके दिमाग में बात मैं आपको सही कहता हूँ मेरे जरूरी बुनियाद पर यूरोप की कौमें अभी भी खुले हुए रहेंगे उनके अंदर कट्टर नहीं वहाँ की बहुत सी लड़कियाँ बहुत से नौजवान लड़के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जब उनके साथ तरीके से बात की जाती है वो तो फौरन इस्लाम की तरफ दौड़ वो तो खुली हुई किताब को देख रहे तो इस्माइल बिन मसूद मोहम्मद कहा कि वो जो बंदर साथ थे वो हमारे पास आए और उन्होंने ये मुतालबा किया कि एक अगर एक जो आपने किया था वो तो आपने अपने तौर पर किया अब मैं अपने दोस्तों को बुला कर मौलाना के रखना उसने कहा कि आज उस के पर यहाँ एक ऐसा हो ये वो बात जो मौलाना बेकार है बहुत ही हमने दुनिया तो के किसी रसूल को नहीं भेजा उनका तो कौन की जबान है आपको हिंदी जबान सीखनी पड़ेगी आज तस्वीर तो ऐसा तो पहले हजरत अल्लाह कहते उनके दिन में बात आएगी आपको तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी का रिवाज है बहुत अच्छा एग्जाम तो उसमें आए थे कुछ एम आए थे कुछ डॉक्टर आए थे तो वो हिंदी में तब्दील कर रहे थे वो तो मराठी लोग हैं उनकी जबान तो मराठी है लेकिन साहब रहमतुल्लाह ने हमारी लेक्चर में कहा था कि मेरे दोस्तों तुम अगर अल्लाह के दीन पर आ जाओ और अल्लाह अल्लाह के रसूल की कलाम को लेकर चलो तो मैं एक के साथ कसम खा कर कहा हमारा ने सोचा तारीख लेक्चर में कि ये रशिया और ये अमेरिका की बड़ी बड़ी ताकत है जिसको सुपर ताकत कह दो वो सूखे पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाएगी उस वक्त मैं सामने बैठा था ये हुआ इतनी बड़ी कुवत है और हमारा भरमाया गया सूखे पत्तों की गिर जाएगी हम तो तारीख में समझ हमारे लेकिन हमारे आंखों ने देखा कि रशिया सूखे पत्तों लेकिन इधर मैंने उन लोगों को देखा वो रशिया में तर्जमा कर रहे हैं उस वक्त में अभी रशिया टूटा हुआ नहीं था लेकिन ये उन लोगों की समझदारी की बात थी उन्होंने सियासी हालात को देखा नहीं गुजरेंगे कमीशन खाएगा और शिखर खाने के बाद मुस्लिम रियासतें आजाद होंगी उस वक्त उनको इस्लामी किताबों की जरूरत होगी अभी से हम आदमी तैयार ये जमात के लोगों की बेदाग बकरी की बात है ये उनका महसूस था हमारे मुल्क की बात नहीं है कि हमें आइंदा के दस साल बाद बात सोचनी चाहिए तो किस इलाके में कौन से मान मुल्क आजाद हुआ वहां से अलग हो उन लोगों के पास नहीं थी बंद कर मदरसे बंद कर दिए गए थे में चल रहे थे छुप छुप कर लोग अपने बच्चों को दिए तालीम वहाँ पढ़ा रहे थे मदीना मनवाला के हाजिर भी ईमान वाले वो मुझे कह रहे थे कि आजकल मेरा काम है की जबानों में मैं किताबें छाया करवाता हूँ और जितने आ रहे हैं उनके साथ साथ अपने पक्ष के पक्ष में भेजा जो तो लोग रहते हैं जिनको इस्लाम का डर है वो तो ये समझते हैं कि इस्लाम आदमी डर है और अल्लाह ताला ने इस का नाम हम सबके जिम्मे डाला है ये नहीं कहा कि गुजरात में रहते हैं तो यहाँ का छोड़े सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ का छोड़े हमें दुनिया की फिक्र है हमें अल्लाह के दीन पैगाम सारी दुनिया में पहुँचाना है तो फिर कुछ लोग अंग्रेजी सीखे कुछ फ्रांसीसी सीखे कुछ रशियन जबान की करता है यहाँ रहने वाले हिंदी जबान पर मेहनत करें और बेहतरीन हिंदी के राय ही हिंदी में बोलने वाले अगर ऐसे मुस्लिमों के ग्रंथों में कोई दीन की बात कही जाए तो सही कहेगा और साफ सुथरी हिंदी जबान उसका असर पड़ेगा मुझे बहुत तजुर्बे हैं काफी ऐसे ग्रंथों में मुझे का मौका मिला जिसमें आगे हजरात और तालीम याफ्ता हजरात बैठे हुए थे और हमने उन्होंने बात की इसका साल यहाँ में एक स्कूल का हो रहा बहुत से प्रोफेसर हजरात को बुलाया उन्होंने सूरत गैर अच्छे खासे राइटर बेहतरीन लिखे हमने दस दिन एक बात की लेकिन जब मैं बात खत्म करूंगा तो एक बहुत बहुत मजे में कलम आ रहा है प्रोफेसर सुरन का वो तो बारे में उसकी बाजी आई तो उसने खड़े होकर ये कहा कि अभी एक मौलाना साहब जो बात कर रहे थे मैं अपने दिल नहीं समझ रहा था कि इनके अंदर विवाहन उनके तो नजदीक जो है वही लोग हैं विवाहन का आत्मा बोल रहा है वो ऐसा समझ थे कि वो सबसे बड़ा आदमी हिंदुस्तान में तो उनका वही बता रहा है उन्होंने अपने ही आदमियों की बड़ाई देखी है उनके संसर्ग को पढ़ा है उन्होंने दरवाजे को नहीं देखा उन्होंने लाली को नहीं देखा उन्होंने रूढ़ी नहीं पढ़े उनको क्या मालूम कि रूढ़ी के मुकाबले में दरवाजे कौन इसलिए उनकी ली लेकिन बात ऐसी की जाए अगर वहाँ है हिंदी बैंक हो तो कबूल करने मेरे दोस्तों आज भी चाहे कितना खिलाफ इस्लाम के खिलाफ भटकना हो रहा है लेकिन अगर आप कोई बात सही कैसे किसी को समझाते हैं अलहमदुल्ला वो बात जरूर असर जो बात जैसे निकलती है असर करती है जो बात जिससे गलती है सब अपनी है और नहीं ताकत सवाल अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर ताकत का मिला है इस वक्त इस वक्त हमारे इदारों में कुछ कमजोरी आ रही है इसलिए मैं अल्लाह से कहता हूँ आप सब जितने भी मदरस में पढ़ना है आप ये करके मदरस में हमें अल्लाह की दीन की दावत हम जहाँ लेकिन अल्लाह के दीन पर काम करें जहां भी मदरसे में आप पढ़ाने के लिए बैठे अल्लाह के साथ पढ़ाएं दुनिया नाम के मुकदर में जो है वो आपको मिलकर रहे कहीं नहीं है रिस्क तो मकसूम व तारीफ संदोम इसको मकसूम है अल्लाह ताला वो तो आपके नजदीक में जो है वो कहीं नहीं देखा है आपके पीछे नहीं जाएगा डिब्बे आपके घर तक आएंगे अगर आप वहां नहीं जाते तो। और आ रहे हैं भाई हजार की कतार लोगों को ध्यान लगता है बेहतरीन से बेहतरीन खाने दूसरे मुल्कों को ध्यान अल्लाह तआला ने रिस्क मुकद्दर किया है वो आदमी को मिल के रहता है वो तय में है इसलिए फिक्र न करो आप अपने दिल के तय करो ऐ अल्लाह अपने सदस्य में आए हैं हम अपने मौके से खादा के सामने जो कुछ बैठकर पढ़ रहे हैं हमने जो कुछ समझा है अपनी जिंदगी में मुझे उतारेंगे और दिल मेरे भाइयों माँ बाप सख्त हो गया इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा की मुहिम चल रही है लेकिन मायूस होगी कोई बात मौलाना रहमान साहब रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उनके सफर पर नूर की बारिश फरमाए और सरकार इसके बाद मुल्क के कुल और में जाकर और बड़ी बड़ी वाजहाना अंदाज में मसले फरमाया करते थे हमारे जमाने में बड़े जबरदस्त हमारे वो फरमाया करते थे कि इस्लाम हमारे लिए दिन में कभी जमा नहीं हो तो सकती इस्लाम और दूसरी एक दिन में कभी जमा ये हो नहीं सकता कि कोई आदमी मुसलमान हो और दूसरे हो ये हो नहीं सकता कि कोई आदमी मुसलमान हो और मायूस होकर मायूसी खूब है हालात तो आते हैं हालात छोटी है हमारे पर मायूस होने की कोई बात वही तत्व वसते आगे तुम तकवा रक्षा करो और सड़क हालात तैयारी करो बात को सही कहकर समझाने की कोशिश करो अगर आपने जीवन में रहकर ये बात सीखी जैसा भगवान ने आपको फरमाया आपने अच्छा मुकाबला किया आप शरीर के बात करें आप इतना से गुफ्तगू करें माशाल्लाह आपके दरबार जो पकड़े थे उसे सुनकर हमें खुशी हुई और अल्लाह ताला वही उसके अंदर जरा पैदा फरमाए बहुत सुकून के साथ बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अच्छे मदरसे दिए हैं अच्छे असाजा दिए हैं और जैसे आपने रिपोर्ट में सुनाया कि आपका एक बेहतरीन किस्म का तलबा अपना जो खाना है वो कुतुब तो तो खाना अलमारी के दीर दिशा में न बंद किया जाए बल्कि आप उसके इस्तेमाल अच्छे अच्छी किताबें पढ़ें और जो किताब आपको पसंद आए जिस मुसनिफ के वजूद आपके दिल को लगे उस मुसनिफ की किताब को आप आकार आज सुबह आए मेरे पास आए सुबह मेरे के बाद मैंने उनको किताब बताई कि हम रखते हैं कि मैंने कहते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ से भाई किताब है कि शेर असीर और नमिया दुरुस्त मारेबा डॉक्टर विश्वनाथ से भाई प्रयोग शान के बहुत प्रयोग बने तो बड़े सारे आदमी उनकी किताब अभी हमारे पहले हमने लाल को इतनी पसंद आई कि हमारे उसको पाकिस्तान में उसको तर्जमा करवाया किताब की दूसरी सुंदर और मकान सुंदर इस्लाम सुंदर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीह में क्या मकाम मरतबा है वो उन्होंने इतनी बिजली लिखी और यूरोप के वो लोग जो को बुलाया जाता और नष्ट करते थे उन्होंने सुनत बुला था उसका डरना मुश्किल जवाब दिया डॉक्टर मुझ पर समाई डॉक्टर माँ जबल खुश हो गए उनका इसका उर्दू में तर्जमा उनके पूरे पाकिस्तान में उनकी बहुत किताबें डॉक्टर मुझ चलाई तो ये भी किताब की बात जगह में किसी मैंने दायर को बताए उसने कहा हाँ मैंने दौरे के साथ देखा मैंने किसी किताब को सिर्फ देख रहा आगे नहीं किसी किताब को तो एक मरतबा पढ़ लेना काफी नहीं हजरत मौलाना सैयद हसन रहमिया रजी रहमतुल्लाह के फरमाते थे कि किताब को कितनी मरतबा पढ़ो कितनी मरतबा पढ़ो वो है किताब से उसने क्या किया ये जुमला हजरत मौलाना का और खुद अपने बारे में उन्होंने फरमाया कि मैंने डॉक्टर तो अब्दुल नमीन की गजुल इस्लाम मोहल इस्लाम और गजुल इस्लाम को कितनी मरतबा पढ़ी है कितनी मरतबा दोहराई उस किताब के मुताबिक मौलाना रिजा साहब की आपकी जो इबारत है तो उसमें अहमद अमीर का शुरू पाया हर एक मुसन्फ एक शुरू होता है कोई तो उर्दू तो लिखता है तो का शुरू होता है किसी में मौलाना मंजूर साहब हमारे का होता है कोई आदमी लिखता है जैसे कि पाकिस्तान के बाद आदमी ऐसे लिखते हैं जैसे मौलाना आजाद की इबारत का शुरू शुरू तो एक आदमी के बस की बात नहीं सब कलाम की तैयारी करें लेकिन सैयद साहब की शिंदी की तैयारी आप कर सकते हैं उनकी किताब को आगा एक बंदा नहीं जो किताब आपको पसंद आए उसमें पारो अल्लामा मतलब इसलिए मतलब ये ऐसी बात है चार के एक मतलब उसका हाथ में रहता है छोड़ने का ठीक है इसकी जारी इबादत है उसकी तकनीक है बनने के खातिर वैसे दूसरे बहुत सारे मुसलमान हैं मौलाना खुद मौलाना आजमान साहब रहमतुल्लाह की किताब ऐसे हैं जो आपके हिस्से में पेशी कर रहा है उनके एक जुमले और उनके एक ताबीर ऐसे है कि आदमी सब कर रहा है तो मौलाना कैसी ताबीर मेरे दोस्तों बगैर रोटी मसाले के बगैर मेहनत किए हुए आदमी के कहनों में अनुवाद नष्ट नहीं होते इसलिए जरूरी है अगर आप जरूरी संगीत बनना चाहते हैं आप संगीत बनना चाहते हैं जी बात हमारे जो तलबा इस वक्त यहाँ तस्लीम के खड़े थे उनमें से बाद में अंग्रेजी में भी तबलीग के अंग्रेजी बात वापस नहीं लेकिन एक बात की तरफ मुतवजे करना चाहता हूँ कि जहाँ में हरवा सहारा रिवा अल्लाह ताला ने है तो रजी अल्लाह ताला بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن الجيد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا حكم الله هذا الله का हुक्म है अल्लाह आयत नारे हमारे जमाने को इसमें बात ना भूलना है आदत पड़ जाती है मेरा दिया करता है मैं उनको भारत से कहूँ लेकिन मैं समझ में भूल जाता हूँ इसलिए ये जो बात यहाँ कही जाएगी आप ये दो बातें मेरे बहन आई क्या बोला कि हमने क्या मेरे लोग हम लोगों तो ही लाए हम आए यहाँ के हम भी लाए थे मैं आगे लाए थे जो बात हमारे समझ में आए हम हम बिल्कुल बजाय के साथ आगे अभी अच्छे अंदाज में खैर जाकर अल्फाज बोलने लगे बहुत तेजी के साथ जो लड़का प्रवेश करता है वो गांव के अंदर देहात में वो फायदा नहीं पड़ा अब याद रखिएगा हम लोग अगर यहाँ से ठहर गए अपने गाँव में और आप किसी ने निगरानी ही पकड़े दी है किसी और मन तो पर या विश्व में बड़ा खाने वाले है पर और आपने कोई अच्छी पकड़ी यहाँ यहाँ की और बहुत पास जल्दी जल्दी सुनाए तो लोग के समझ में नहीं आएंगे और लोग एक लफ्ज सुनने जाएंगे वहाँ तक पहुँचते और फिर इसलिए है घर से अपने घर में क्या करता है खाना लोगों का इस्तेमाल करें हाँ तो हमारे तरीके से दूसरी बात ये बात मैं पहले भी दो वक्त मैं कह सकता हूँ आज से श्रीलंका का विषय पता लगा देते हैं इसलिए अगर ये बात पहले कह चुके मैं दोबारा आपको समझ में दिलाए आप उसकी कोशिश करें कि तकलीफ में आप विलम्ब न करें खैर खैर से घूमने बोले साथ और बात घूमने कहें और फर्क करें बलमान मस्जिद का और गामा घूमने तो ये दोनों तरह की तकलीफों के आप आदत आए ना कि कुछ सीधे साधे लोगों में ना कैसे हाँ रमतुल्ला तो अच्छा उनसे को कहा कि भाई हमारी के वो करीब के गांव वाले आए थे हमको दावत दे गए थे तो चलो आज दोस्तक है तो हम उनके गांव वाले उनको कुछ पता नहीं और हजरत निकल गए सही है क्या हाँ, तो देखा मौलाना अभी लिखा हुआ जमाने में फारसी पढ़ाते थे दाखिल मदरसे में तो वो जुमेरात दिन अपने घर चले जाते उन्होंने देखा कि मगरब में शराब मौजूद है बड़े हैरान है अच्छा कश्मीरियाँ अलग अलग अच्छा नमाज के बाद हजरत शाह साहब खड़े हुए और ये ऐलान किया कि भाई लोग थोड़ी देर तशरीफ रखते हैं अनवर शाह कुछ कहेगा अनवर शाह कुछ कहेगा तो मौलाना हमीदी साहब रहमतुल्लाह फरमान लगे कि मेरे होठ उड़ गए अनवर शाह तकलीफ करेगा ताला खा जाएंगे लोग क्या करेंगे वहां तो बड़े बड़े अलमा को परमाने की जगह नहीं है अहमदना के बाहर रखा करता था अहमदना को बड़े बड़े अलमा जो है वो चौकन में होकर बैठते थे क्या यहाँ से जहाज से इनको नहीं हुआ करती मौलाना निसार कहेंगे मैं तो बस ऊपर ही तो हो रहा था कि अल्लाह ने हजरत की तकलीफ होगी और ये गांव से समझे तो हजरत कह गए मिंबर पर और उनको सलाम के बाद कहा कि दोस्तों देखो वजू का मसनून तरीका ये है वजू का वजू में इतने भैया वहाँ लोग तकलीफ आए थे आपने मुझे दावत की तो मैं रात में मुसलमान भया तो बेचारे मोहब्बत से गए थे हम यहाँ आ गए और यहाँ आए थे हम कुछ दिन की बात आ गई वो तबले की जो दावे मदरसे में ये दारू जीवन की मसंद सलाह तो बुखारी में हुआ करती थी तो ताकते की मना और ऐसी बातें तो मालूम था हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह के पास समझ सके कि वो दस की जगह दूसरी है वहाँ जो तमाम मेरे पास बैठते हैं वो तो चाहता है हम तो दवा पढ़ा कर आते हैं पंजाब से बिहार से और ये भी के डॉक्टर जिला में थे तो उनके सामने तो मैं इस्तेलाह इस्तेमाल कर सकता हूँ अल्लाह के लिए याद अल्लाह मेहरबान मिला रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरे साथ मस्जिद से दौरे में चलो आते हैं वो मेरी बात ही नहीं समझ पाते पहले जमाने में तो दौरा पढ़ाए हुए लोग आया करते थे हम इशारों में उनको समझा दिया ये कुछ बैठा हुआ था अल्लाह ने कहा इशारा कर दिया और ये फरमाए हमारे हजरत के जमाने में अपनी तकदीर नहीं हुआ करती तो फिर उससे पूछा कि हमारा हजरत हमें तो कौन बना दे मैंने मुझे नहीं मालूम कहा मैंने हमारा हजरत को हजरत हम रहमतुल्लाह ने बना है तो कहा हजरत शहबुद्दीन रहमतुल्लाह सब एक एक गुजर करते थे उसके बाद फरमा के कहा भाई ठहर जाओ कि हदीस में यहाँ एक शिकार ये है उसका ये बात इशारा तो नीचे होती और नीचे मेहनत करते करते करते कई सालों के बाद दौरे में पहुंचे मैं तो मौलाना नया साथ से सुना इलाज मैं पढ़ाते थे देवबंद में कि मनुष्य ख्याल में या निर्णय हो रही लेकिन उसके बहुत से बच्चे ऐसे आ जाते हैं लापा लेते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि इनकी अकलियत अभी इतनी पुख्ता हुई ही नहीं है कि जो आपने बता रहा है जल्दी जल्दी ऊपर कर एक दर्जा दो दर्जा तीन दर्जे और पाँच साल में दर्जा आश्रय पड़ गए मौलाना ने माना कि जो तीन चार साल इब्तदाई के कारण पढ़ के हजा आश्रय पड़ता है उसको हजा आश्रम की मुश्किल है लॉ की कानून की इसमें दिमाग की पुस्तकी की जरूरत है एक दिमाग में जब पुस्तकी होती है तो लड़ाई को विकसित करना तो मेरे दोस्तों मैं क्या करो जैसे मुझे भारी होने की कोशिश है ना करो अपनी दुनिया की तारीफ की किताब को मजबूत करो ताकि ऊपर की किताबों को जमा को सुने शरीर के लिए जबान इस्तेमाल करो आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आदत डालो और कभी मुताला के लिए जमाना तैयार हो जाए हमें तो बहुत नाच और जिन लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का ख्याल है या हो सकता है जाने का है वो भी स्कूल में जाने वाले महान विद्वान के बारे में रहे से ये समझदारी की बात है दुनिया आज महताज है इस्लाम की तालीम की और बहुत से ऐसे इलाके मौजूद है अगर आप महाराष्ट्र